से वार्तालाप करने का बोलने का व्यवहार का ढंग आएगा उनके साथ वो बोलो आर्य भाषा में बोलने वाले के साथ आर्य भाषा में बोलने का ढंग भाषा का जो ढंग उसी ढंग से मीठी भाषा उचित भाषा बोलना उत्तेजित होके नहीं बोलना क्रोध नहीं करना ये सारा का सारा व्यवहार और ब्रह्मचारियों के साथ बोलो संस्कृत भाषा में उसमें संस्कृत भाषा में व्यवहार कैसे करें कैसे बोलें क्या विभाग बनाया ब्रह्मचारियों के साथ संस्कृत भाषा में बोले और खोज करते रहें कि नई नई वस्तु आती है इसको क्या कहते हैं संस्कृत में इसके रूप कैसे चलेंगे देखते जाते हैं ये वो ढूंढ लेता है और ध्यान ही नहीं देता तो उसको वस्तुओं का रूप का ही पता नहीं चलेगा वो संस्कृत नहीं बना पाएगा उसके सामने आ गया संस्कृत नहीं बनानी आई उसको और पूछने लगे इस दाल में टमाटर डाला है क्या और वो चाहता मैं इसकी संस्कृत बनाऊं और टमाटर का उसको पता नहीं क्या कहते तो क्या करोगे <laughs> बताओ क्या करोगे एक मोटा सा समाधान ये है टमाटर के रूप चलाकर टमाटर की संस्कृत बना दो <laughs> क्या समझ में आया है जी जैसे आप बोलते ना सेव फलम फलम के साथ जोड़ के उसकी संस्कृत बना दी है जी सेव फलम ईदम अस्ती ऐसा बना दिया उसने क्यों ऐसे बना लेते हैं कुछ न कुछ और इसके विषय में जैसे लोगों ने हिंदी से संस्कृत ऐसे कोर्स भी मिलते हैं हिंदी से संस्कृत उसको देखते रहना चाहिए तो भाषा के संबंध में कैसे बोलना भाषा मीठी सत्य कोमल सुख परत और आपके बोल चाल को व्यवहार को देख इसलिए तो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी <laughs> कितने अच्छे देवता हैं तो <laughs> आप बाहर से तो देवता दिखा दोगे अंदर से तो देवता कम है या नहीं अंदर से होना चाहिए नहीं कि अंदर पर अंदर से कम देवता हो तो बाहर से तो देवता दिखाई दे कम से कम और ये व्यक्ति अंदर से भी देवता नहीं और बाहर से भी देवता नहीं आबू पर्वत पर हजारों कन्याएं ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मा कुमार और उनके हाव भाव देखो बाहर की अंदर की बात नहीं करते हम जाना आना रहना उठना बोलना देना खिलाना पिलाना जो कुछ व्यवसाय ऐसे व्यवहार करते हैं ना जो वो ऐसे देख रहे देवता है ये कहाँ से आ गए इतने गंभीर कितने संयमी है इधर उधर नहीं देखते इधर नहीं देखते आप कहीं देखोगे लोगों ऐसे देखोगे <laughs> साहब उन लोग ऐसे देखोगे गंभीर नहीं है व्यक्ति तो उनको एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो सारे के सारे देवता हैं उनका जाना आना इतने गंभीर इतना संयम देखना गंभीरता से बोलना गंभीरता से सारे हाव भाव अब उनके वहां एकदम व्यक्ति को प्रभावित करता है साथ बच्चे हो सकते ये लोग आर्य समाज जैसी संस्था को छोड़ उस मार्ग के छोड़ यहां आए इन्होंने जो पाना था वो पाया नहीं जो पाया था ना वो खो दिया तो व्यक्ति को बाहर का व्यवहार भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए वो सीखना पड़ता है कैसे बोले मनस्थिति हमारी कैसी हो ध्यान देते हैं हम हम बोलते समय उत्तेजित तो नहीं है है तो रोक दो अंदर पहले से सावधान है वो उसके साथ मैं बात करूंगा उत्तेजना नहीं आने दूंगा पहले से तैयारी करता है वो ऐसी स्थिति आएगी तो कार को ऐसे मोड़ूंगा ऐसे मोड़ूंगा दुर्घटना नहीं होने दूंगा तो वो बचेगा वो व्यक्ति और उनके दिमाग में ही नहीं ऐसे आया तो ऐसे करूंगा ऐसे आया वो कार की दुर्घटना हो जाएगी क्योंकि सोचा नहीं ना ऐसे बचना ऐसे बचना जैसे उदाहरण के रूप में कई बार व्यक्ति इस ओर से गाड़ी आई और इस ओर से भी आई और बीच में इतनी जगह है कि वो सोचता है साथ में निकल जाऊं क्या समझे अब साथ में निकल जाऊं की स्थिति में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्या समझे आप साथ में निकल जाओ ना निकले तो मरेंगे निकल गए तो निकल वो बुद्धिमान कहता है ऐसी स्थिति में साथ में निकल जाऊं गाड़ी नहीं चलानी चाहिए तो बच जाएगा वो नहीं तो मारा जाएगा अब ये सावधान ही नहीं है आप के सामने योग शिक्षण में भाग लेने आया क्यों जी आपके आचार्य जी कहां हैं मैं मिलना चाहता हूं उन्होंने ऐसा बोल दिया थोड़ा सा उत्तेजित होगी बोल हाँ, आपने धैर्य रखा मैं ऐसा नहीं करूंगा कोई बात नहीं मैं बताता हूँ आगे प्रेम से उसको समझाया ऐसे ऐसे ये तो ठीक रहा और जब वो क्रोधित गए बोल रहा था मैं आप कौन है कहां जाए तो वो आप है उससे भी उत्तेजित हो गए तो किसी वो आपको ही दोषी ठहराएंगे वो कहेंगे आप इतना क्रोध क्यों करेंगे आपने भी तो किया था मैं मैं तो करे हूं तू तो ब्रह्मचारी है <laughs> तूने क्यों किया वो ऐसा मोड़ देगा अब बताओ क्या करोगे हुँ? हम्म? क्यों जी सीख जाओगे तो दूसरी बात और सुनो देखो ये वृत्ति अधिक बढ़ जाती है कई बार बाहर के वातावरण में बाहर के लोगों से मिलने जुलने में उसको रोकते रहना पड़ता हमको बाह्य वृत्ति न उभर जाए अंतर्वृत्ति रहे बात भी करेंगे पर अंदर से संयम रखेंगे अपने मन पर इंद्रियों पर संयम रखेंगे देखेंगे सुनेंगे बिल्कुल सावधान रहेंगे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर उल्टे संस्कार पड़ जाएंगे बुरे संस्कार उभर सकते हैं अब हमने नेम बना लिया नेम बना लिया कि भाई जितनी भी माताएं बहने हम उनको मान के चलो दो विभाग मोटे मोटे बनाओ बड़ी माताओं का हम माता की दृष्टि से देखेंगे उनसे छोटियों को बहन की दृष्टि से देखेंगे ये हमने सिद्धांत बनाया और धाराएं हमारी मन में वही रही ये उल्टे विचार उठते थे नहीं हमारा नियम है ये आदर्श है उनको माताएं कहेंगे मानेंगे मन से भी उनको बहने मानेंगे तो हमें अपने मानसिक स्तर पर जो बुरे विचार उठ जाते हैं उनको रोक लेते पहले ही सावधान है दूसरी बात बातचीत कर सकते हैं लेन देन हो जाएगा पर आप याद रखें कि हम उनके लिए विशेष दृष्टि से देखेंगे आकार प्रकार में आकृति को और उसको जब देखेंगे उसके बाहर की आकृति का प्रभाव को प्रभाव पड़ सकता है राग हो सकता है रूप ये आकृति को देखते नहीं है यदि वहां व्यवहार तक सीमित है हमारी दृष्टि तो ठीक निधि वैसे देखेंगे तो उसके अंदर राग हो जाएगा सुंदर रूप को देखे राग पड़ जाएगा मन में उसे उल्टे विचार बनेंगे इसलिए उसको इस दृष्टि से नहीं देखते हम इसे देखने में कैसे देखें कैसे नहीं देखें ये सब बातें प्रशिक्षण की है ये इसलिए सिखाया जा रहा है आप अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाएंगे और जो इसमें दोष आ सकते हैं उनसे आप बच जाएंगे यदि आपका प्रशिक्षण अच्छा नहीं है आपको ये बातें न सिखाई जाए आप इनको न सीखें तो आप नहीं बच सकते बुराई आंतरिक बाह्य सारा व्यवहार विद्यार्थी को सीखना और सिखाना चाहिए लोग झटके देते हैं ये गुरुकुल का पढ़ा लिखा है इसका व्यवहार नहीं आता उठना बैठना नहीं आता इसको ये नहीं आता वो नहीं आता वो इसलिए कहते हैं कि वो व्यवहार को सीखते ही नहीं गुरुकुल में आ गए दर्शन महाविद्यालय में आ गए अब उसने सोचा अब मैं गांव नगरों से निकल के विद्यालय में आ गया हूँ फिर क्या हुआ बस जो मैंने व्यवहार सीखना था सीख लिया आज से आगे मेरे व्यवहार सीखने की बात ही नहीं मैं तो बढ़िया बनाया हूँ <laughs> ठीक है क्या समझ में आया है जो का तो देवता हूँ मैं मुझे व्यवहार करने की जरूरत नहीं है और जैसा है वैसा है जो व्यवहार दिखता है वो उससे क्या ध्यान देना है उस पर भी क्या ध्यान देना है इस पर भी क्या ध्यान देना हाँ सब जगह ध्यान ही नहीं देना तू बना बनाया है ऐसे सोचता है सीखता ही नहीं नाम गुरुकुल का हो गया ये गुरुकुल में, में पढ़ा है विद्यालय में पढ़ा इसको व्यवहार नहीं आता उसने ध्यान ही नहीं दिया कि व्यवहार सभी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत सावधानी से सीखना पड़ता है अब चप्पल निकालेंगे एटेडी मेडी और बीच में निकालेंगे दरवाजे के क्योंकि भाई चप्पल बीच में क्या बनता है बीच में निकल गई तो क्या बाई निकल गई तो क्या व्यवहार सब हो गया ठीक है ठीक है नहीं उसने कटी वस्त्र बांधा और वे लोग बाहर के भी आ गए आधा ही जोर टंगा हुआ आधा ही जोर टंगा हुआ और कहता ये कटी में क्या ठीक है चलता जो ठीक है <laughs> आधा लटक रहा है आधा ही जोर है नहीं क्या लटकता रहेगा क्या करना कटी वस्त्र का ठीक करने का क्या करना कुछ नहीं ऐसे सोचता है आपने बहुत से देखे ऐसे ब्रह्मचारी ऐसे विद्यार्थी बहुत से वो सुना रहे हैं सब तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप भी ऐसे ही करते होंगे या नहीं करते हुँ? आज के आप में से कोई झगड़ा करता है बाणी बाणी का झगड़ा उत्तेजना आती हो किसी को धमका देता हो कौन करता है सब विवाह सभी कर लेते हैं कभी कभी अच्छा कभी कहते तो कब छोड़ दोगे उसको हाँ जी और कौन कौन करते हैं क्यों करते हैं आप हैं नहीं कभी कभी आग लग जाए तो नुकसान तो करेगी कभी कभी दोष हो जाए तो वो कोई एटकारी हो या कोई उसमें आनी से तो बचता नहीं अब कभी कभी हो फिर हाँ भाई कार्य ठीक होने पर अति होने पर सामने वाला ज्यादा बोले तब तेज आ जाते ना ना ये ये आपके बिगड़ने के कारण है व्यवहार में यम नियमों का पालन बहुत संयम रखना पड़ता है मन वाणी शरीर से यम नियमों का पालन ये यम नियम ही भंग होते हैं सब व्यवहार में जो उल्टा व्यवहार है उसमें यम नियमों का उल्टा ये सारा व्यवहार मारता बड़ा ध्यान देना पड़ता है कभी हो जाए तो पश्चाताप करो आगे फिर सावधान हो जाए फिर आपका स्तर ऊंचा बनता जाएगा वो रुकता जाएगा कम होता जाएगा सावधानी बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे हाँ अब मेरा संतुलन बना रहता है नहीं ध्यान देंगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा और वो कभी कभी के स्थान पर प्राय होने लग जाएगा ऐसा होता है प्राय होने लग जाएगा इसलिए ये सोचने का ढंग है हम भी कई बार बातचीत करते हैं जब जब कभी कभी उल्टे व्यक्ति आ जाए कभी बहुत जोर से बोलना पड़े भाई आज बातचीत तो ठीक थी फिर जोर से बोला गया ये अच्छा नहीं हुआ कुछ <laughs> ऐसा देखा जैसे क्रोध आ गया हो हम सोचते हैं आज ऐसे बोला गया ऐसे आगे ध्यान देना चाहिए आगे ऐसा नहीं बोलेंगे वो समझ जाते हैं फिर पहले से सावधान होने लग जाते हैं सुधरने का ये ढंग है शरीर से फिर वाणी और फिर मन तो ये जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं अपना विद्यालय चलाते हैं योग सिखाते हैं दर्शन पढ़ाते हैं ये विशुद्ध वैदिक मार्ग के ढंग का वातावरण है इसमें आप ध्यान देंगे पूरा जोर लगाएंगे तो निश्चित बात है कि आप ये चाहते हैं कि हम सारे दुखों से छूट जाए ईश्वर का अनुभव साक्षात्कार कर लें योग्यता के आधार पर आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं आपको जस्ती है हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे जस्ती है तो आज खड़ा करो ये बात कौन कौन है मानते हैं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं सभी है मतलब है जी तो ईश्वर का साक्षात्कार क्यों नहीं होता है जी छोटा वाक्य बोलू पढ़ने पर भी जानने पर भी पढ़ाने पर भी जो जो ईश्वर साक्षात्कार में बाधक है उनको व्यक्ति पूर्ण रूपे ने जान के छोड़ता नहीं है पहले जानता नहीं और जान भी लेता है उनको छोड़ता नहीं जो ईश्वर की प्राप्ति में विशेष साधन है उनको जानना उनको व्यवहार में लाना जो बाधक है उनको बाधकों को जानना और छोड़ देना बस ये बात इतनी बात ईश्वर का साक्षात्कार क्यों नहीं होता पढ़ने पढ़ाने पर भी दोहराओ व्यक्ति पूर्ण रूपेण ईश्वर प्राप्ति के क्षेत्र में जो बाधक है उनको पूर्ण रूपेण जानता न हो जैसे जानता नहीं और फिर उनको जान के छोड़ता नहीं और जो साधन है उनको पूर्ण रूपे ने जानता नहीं अथवा जानता है शब्दों में छोड़ता तो ईश्वर प्राप्ति में जो बाधक है उनको छोड़ देने से और साधनों को अपना लेने से ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा दो बात दो ही बात कहनी हो तो इतनी है अब विराम सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जन ब्रह्मचारी गण व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने वाले साधनों में एक निष्काम कर्म है निष्काम भावना से अन्यों की सेवा करना आत्मनिरीक्षण करके देखेंगे आप कि व्यक्ति जब कोई अन्य व्यक्ति का उपकार करता है तो उस उपकार करने वाले के मन में उस कर्म के फल की इच्छा होती है उस कर्म का फल धन हो सकता है सम्मान हो सकता है सेवा हो सकती है जो जो लोक में सांसारिक व्यक्तियों के क्षेत्र में फल माने जाते हैं वो उसके मन में रहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म अनिवार्य साधन है और यदि व्यक्ति उसको नहीं करता तो ईश्वर की प्राप्ति करने में सफल नहीं हो पाता दूसरी ओर व्यक्ति देखता है कि मैं जो कुछ दूसरों का उपकार करता हूं या करूं तो मुझे उसके बदले में लौकिक फल मिलने चाहिए अपने ब्रह्मचारी आत्मनिरीक्षण करके बताएंगे क्या आप जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य करते हैं उपकार करते हैं दूसरों का उसमें आपका क्या मन रहता है क्या स्थिति रहती है अर्थात निष्काम कर्म की स्थिति रहती है या सकाम कर्म की स्थिति अपना अपना बताओ कौन बताएगा हाँ जी विशाल जी बोलेंगे दोनों स्थिति रहती है तो दोनों में से प्रबल है कोई या समान है या क्या दिखता है समान है हाँ जी संदीप जी बोलेंगे सकाम कर्म की प्रधानता है रणवीर जी सकाम की प्रधानता रहती है स्वामी हाँ जी आप बोलो परोपकार की कार्य तो हम नहीं ऊंचा बोला करो विशेष परोपकार की कार्य हम यहाँ नहीं करते अब फिर भी अंतिम बात आपकी सुनाई नहीं दे रही नहीं करते ऐसा बोलो अक्षर शब्द वाक्य वहाँ तक सुनाई दे विशेष परोपकार की कार्य हाँ। यहाँ हम नहीं करते कुछ नहीं करते या नहीं कर सकते ऐसे तो जो सामान्य हमारा व्यक्तिगत कार्य है हम्म। परोपकार की कार्य नहीं करते नहीं एक बात और आई आपके समझ में से आते है वो बात साफ समझ में नहीं आई होगी आपको जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं आप वो लौकिक फलों की दृष्टि से करते हैं या ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से इसको पूछा जा रहा है इसका उत्तर हाँ जी विचारता नहीं स्वामी जी कार्य करते वक्त बस कर देता, कर देता ना ऐसा नहीं हो सकता जी ये नहीं हो सकता ये तो आपने ऐसी बात कही जैसे में पढ़े लिखे लोगों को बोल दी जाती है आपने इतना भी विचार नहीं किया कि मैं ऐसा कहूंगा तो लोगों के लोगों क्या प्रभाव पड़ेगा कभी विचारता भी तो सोचता हूँ कि इसका कुछ फल नहीं चाहिए मुझे लौकिक नहीं कुछ न कुछ तो विचारता है ना व्यक्ति हम्म एक वाक्य आता है ना निष्प्रयोजन में तो मंदो अपी न प्रवर्तते निष्प्रयोजन तो मंद बुद्धि वाला भी कोई काम नहीं करता बिना प्रयोजन के प्रयोजन होता है उसका कुछ न कुछ व्यक्ति करेगा तो उसका परिणाम देखेगा कि क्यों करता हूं मैं चाहे झाड़ू लगाए वो रहेगा नहीं दिमाग में परिणाम निकलेगा शुद्धि हो जाएगी कुछ भी हो जब वो कोई कार्य करेगा तो कोई परिणाम तो नहीं बिना परिणाम के करने का क्या मतलब कुछ भी नहीं इसलिए सोचा करो आपके मन में जो रहता है उसको पकड़ो और फिर बताओ कि मेरे मन में ये रहता है हाँ जी दोनों स्थिति रहती है कौन सी प्रबल है समान रूप से लगती है हाँ जी सामान्यता सकामता अधिक रहती है हाँ जी जब से यहाँ पर आया हूँ तब से निष्कामता की प्रधानता रहती है हाँ जी आप बोलो निष्कामता की प्रधानता रहती है हाँ जी निष्कामता की आप बोलो निष्कामता की प्रधानता रहती है निष्काम भावना अभी बनी नहीं है बिल्कुल ही नहीं बनी मतलब कोई हिस्सा नहीं है उसका कभी कभी हो जाता है तो अच्छा तो आप उस पर बल नहीं देते कि मैं निष्काम भावना बनाऊं ऐसा जोर नहीं देते उसके ऊपर बल लगाता हूँ हाँ। रह जाती है अच्छा तो फिर आप पराजित हो जाते हैं मतलब उससे हाँ ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है फिर पराजित हो जाते हैं अच्छा जी ठीक बात है हाँ जी ध्रुवानंद जी हाँ ये दोनों क्या रहती है कौन सी प्रबल होती है परंतु तो मात्रा की तुलना नहीं की हाँ वो कौन रह गया वो बोले जी पहले तो सकामता रहती थी यहाँ आने से पहले अब धीरे धीरे निष्कामता आ रही है आ रही है या ला रहे हो आप बोलो इसको लाना पड़ता है बलपूर्वक देखो फल को लेकर के झटाझट व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है ये मिलेगा वो मिलेगा धन मिलेगा मान मिलेगा अच्छी कीर्ति होगी लोग सम्मान करेंगे इत्यादि अच्छा जब ये लौकिक फल हटा दिया जाता है तब तब वो निष्क्रिय जैसा होने लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं कोई सम्मान नहीं कोई धन नहीं कोई कोई बात नहीं क्या करूं ऐसे ऐसी स्थिति के सामने आए क्या करके करना है कोई सम्मान तो लेना देना नहीं है कोई धन मिलेगा नहीं कोई सुख मिलेगा नहीं क्या करना है ऐसे सोचेगा वो लगभग ऐसा होता है जैसे फल को सामने रख के दौड़ लगाता है इतना धन मिलेगा इतना मान मिलेगा बहुत जोर लगाता है ऐसे निष्काम कर्म के लिए जोर प्राय नहीं लगाता कुछ क्यों वेद मुनि जी आप भी सुना दिया करो निष्काम तप रहती है सकामता है दोनों बराबर रहते हैं दोनों रहते हैं प्रयास कर रहे हैं निष्काम कर्म को बढ़ाया जाए और सकाम कर्म को रोका जाए कम किया जाए इसके अनेक कारण हैं उन कारणों को व्यक्ति जान लेता है समझ जाता है तो निष्काम कर्म बढ़ते जाते हैं सकाम कर्म कम होते जाते हैं यदि व्यक्ति ये मानता है ये शरीर इंद्रिया धन संपत्ति जो कुछ है इससे जो मैं क्रियाएं करता हूं उससे दूसरों का कुछ भला होता है तो ईश्वर प्रदत्त साधनों से मैंने काम किया है शरीर इंद्रिया धन संपत्ति जो कुछ है शरीर इंद्रिया आदि और धन जो भी ये मेरे कारण से नहीं है ईश्वर के कारण से ये है मैं तो ईश्वर की सहायता से उसके दिए उपकरणों से कुछ इसमें सहायता सहयोग देता हूं थोड़ा तो प्रमुख रूपेण ईश्वर की दी सारी शक्ति साधन है मैं उनसे अपने कर्म करता हूं उपकार करता हूं तो मैं ये क्यों मानता जानता हूं कि मुझे इसके बदले में ये मिले वो मिले ये ये क्यों क्यों कारण तो आप तो मुख्य है नहीं इसमें तो क्यों चाहते हैं आप हाँ जी कौन बोलेगा अपने से क्या पूछोगे आप जिस शरीर से इंद्रियों से धन से और संपत्ति से हम परोपकार करते हैं और उसमें प्रमुख रूपेण वो सारे साधन ईश्वर पर दत्ते हैं हम उसमें जो कुछ सहयोग देते हैं वो ईश्वर की सहायता से ही सहयोग दे पाते हैं और वो भी बहुत थोड़ा होता है फिर हम ये कहते हैं ये मानते हैं कि इस उपकार का मुझे ये फल मिले ये फल मिले वो फल मिले फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो ये न्याय की बात है या नहीं आप बोलो क्यों जी ठीक है या नहीं है नहीं है ठीक है <laughs> ठीक नहीं है तो जो ठीक है उसे तो उसी को मानना चाहिए एक भाग और है इसका जिससे व्यक्ति की प्रवृत्ति उस ओर से हटती है निष्काम कर्म की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होता है जब व्यक्ति ये समझ लेता है जान जाता है कि लौकिक फल लौकिक सुख क्षणिक सुख और उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है उसको प्राप्त करके मैं क्या करूंगा उससे तो कोई दुख हट जाएगा और सुख मिलेगा ऐसी स्थिति दिखती नहीं है इतना स्तर व्यक्ति का बनता है विवेक वैराग्य से जब इतना स्तर बनता है तब वो निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होता है जब सकाम कर्म की इच्छा होती है प्रवृत्ति होती है तो तत्काल उसका फल सामने आता है क्षणिक दुख मिश्रित तो वो फिर विमुख हो जाता है इस इच्छा से ये कर्म नहीं करना परिणाम इसका दुख होगा इतना ऊंचा ज्ञान काम करता है व्यक्ति का इतने स्तर पर व्यक्ति विचार करता है तब उससे हट जाता यहां तो लोक में तो व्यक्ति को कहो निष्काम कर्म करो करते रहो खूब उपदेश दो पढ़ाओ बीस वर्ष तक उपदेश तब भी वो निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता और सकाम कर्म जहां होते हैं वहां झगड़े लड़ाई और पदों के और ये सारी बीमारियां वहां उत्पन्न हो जाती सारे दोष आ जाते हैं और ये जो झगड़े हैं पदों पर झगड़े धन पर झगड़े ये सारे सकाम कर्मों को लेकर के चलते रहते मूल में वही भूल है अज्ञान कुसंस्कार मूल में ये रहता है अज्ञानता के कारण अविद्या के कारण कुसंस्कारों के कारण उस व्यक्ति के अंदर ऐसे संस्कार ऐसी प्रवृत्तियां हैं तो उनको तो वो हटाता नहीं अविद्या को वो नहीं हटाता जितना संघर्ष विद्या पढ़ करके अविद्या को हटाना चाहिए वो नहीं करता जितना संघर्ष परिश्रम कुसंस्कारों को हटाने में करना चाहिए वो नहीं करता दूसरी बात ईश्वर की उपासना में जितना प्रयत्न करना चाहिए जितना ईश्वर की उपासना में गति विकास करना चाहिए वो नहीं करता जब नहीं करता तो उसकी प्रवृत्तियां सकाम कर्म की प्रबल बनी रहती है और पुण्य कर्मों को करना सकाम कर्म की दृष्टि से एक बात फिर वो सकाम कर्म इतना आगे बढ़ता है फलों को लेकर उल्टे कर्म करना आरंभ कर देता <laughs> अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अधर्म अन्याय आरंभ कर देता है बेरा आपको कितने समय तक कितना परिश्रम त्याग कितनी विद्या कितना सत्संग करना पड़ेगा जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे अब सकाम कर्म बुरे कर्म तो छोड़ दिए एक विभाग अलग बनाओ और सकाम कर्म भी सब छोड़ दिए और हम निष्काम कर्म कर रहे हैं कितने दिनों में प्राप्त करेंगे आप देखो अपने योग प्रशिक्षण काल में आप कुछ कार्य करेंगे अपना भी करेंगे और अन्यों का भी करेंगे वहां पर जो व्यक्ति संतुलन को नहीं जानता उसका स्तर गिर जाता है जीवन का स्तर गिर जाता है जैसे आपको कुछ कार्य दे दिए भोजन की व्यवस्था का कार्य दे दिया अध्यापन का कार्य कुछ दिया और दे दिए आप क्या करेंगे उस कार्य को करेंगे उस कार्य को करते हुए क्या भूल कर सकते हैं आप उपासना छोड़ देंगे आधी करेंगे चौथाई करेंगे या नितान्त छोड़ देंगे ये भूल वहां से होगी ऐसा होता है या नहीं बताओ हाँ करो या ना करो नहीं बोलो ये कह उठे कि मेरी तो यही उपासना है क्या समझ में आया नहीं कहते लोग आए है लोग ऐसे कहते हैं कहते मेरा तो यही योग है मेरी तो यही उपासना है ये जो समाज की सेवा बस लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचे विचार रखता है क्या ऊंचे विचार रखता है कि परोपकार करता करता ईश्वर की उपासना भी छोड़ देता है और स्वाध्याय भी छोड़ देता है व्यायाम भी छोड़ देता है <laughs> तो क्या ये अच्छा व्यक्ति है क्या और कई तो यहां तक कह देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अट्ठारह घंटे की समाधि को ठोकर मारी और परोपकार में उतर गए आप ऐसा मानते हैं नहीं, नहीं मानते तो हाथ खड़ा करो क्यों नहीं मानते ऐसा कौन बोलेगा हाँ जी क्योंकि योग दर्शन में एक व्यक्ति जो पर्याप्त ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुका है उसका चलना फिरना सोना उठना अवस्था में भी वो से रह सकता है हम्म, हम्म। यदि स्वामी दयानंद जी सरस्वती को हम ऊंचे स्तर का योगी मानते हैं हम्म, तो यह यह बात खंडित हो जाती है कि वो 18 घंटे की समाधि छोड़ करके परोपकार में लगे थे अच्छा ये लोग सुनने वाले कहते हैं बहुत महान कार्य किया महर्षि दान से और हाथ खड़े हो जाते हैं तालियां बज जाती है इनको यही पता नहीं ये क्या तुम बोल रहे हो क्या स्वीकार कर रहे हो उल्टा बोल रहे हो ऐसी दानी नहीं तो आप ऐसी भूल न कर देना जो यहाँ सेवा करने लगे संध्या भी छोड़ दो और व्यायाम भी छोड़ दो और स्वाध्याय भी छोड़ दो ऐसा तो नहीं करोगे क्यों जी बोलो क्या करोगे हम ये बनाएंगे हाँ। और सब कुछ करते हुए अपना काम नहीं करेंगे और एक व्यक्ति क्या करता है जब समाज का कार्य करने की स्थिति आए तो वो पढ़ाई में लगा रहता अपना कमरे से निकलेगा नहीं इधर उधर जाएगा नहीं कोई बलात्कार नहीं लगेगा तो इधर उधर खींचतान के ले जाए फिर आकर के बैठ जाएगा फिर अपना पाठ पढ़ता रहेगा तो कहते हैं भाई समाज की सेवा करो कहते हैं कि मेरी पढ़ाई जो है ना यही समाज की सेवा है वो ये कहता क्यों जी ठीक है ये संतुलन व्यक्ति को नहीं आता अर्थात ज्ञान कर्म और उपासना का संतुलन व्यक्ति को करना नहीं आता इसलिए मार खाता है विफल होता है और ये संघर्ष के बिना आता भी नहीं इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा सा परिश्रम करने वाला व्यक्ति साधारण प्रयोग करने वाला व्यक्ति ऊंचे संतुलन को बना के आगे नहीं चल सकता कभी कभी परोपकार के काम करता है कुछ लोगों ने उसकी इच्छा से उल्टे काम कर दिए तो बहुत दुख होता है उसको उसका कहना नहीं मानते कुछ लोग तो बहुत दुखी हो जाता है वो भोजन करके आए किसी ने थाली वहां मांझनी थी और जहां नहीं मांझनी थी वहां मांझने लग गया वो आपने देखा व्यवस्था करने वाला आप यहाँ क्यों आए सिर्फ धमकाने लगे आप उसको तो कहेंगे यहाँ क्यों मानते हो आप वो, वो संतुलन खोया उसने है जी तो फिर कोई ऊपर का अधिकारी भाई ऐसे मत धमकाओ प्रेम से बोले कितनी बार कहा मैंने मानता ही नहीं फिर कहता है नहीं ऐसा ना बोलो फिर कहेगा आप करो अपना संभालो मैं नहीं करूंगा तो फिर यहां बिगड़ गया बिगड़ता बिगड़ता उसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया आप मुझे ऐसा कौन करता है अपना देखो दूसरे की बात छोड़ो आप मुझे कौन करता है ऐसा करता है कोई हुँ? हम्म? अच्छा कभी बाहर तो नहीं बोलता व्यक्ति मन मन में करता है आप देख सकते हैं ना जी वो मन मन में कहता है देखो जी मुझे काम सौंप दिया और कहते तू क्रोध तो मत कर तू ये कर मैं कर मन मन में सोचता बाहर नहीं बोलता किसी को भोजन खाते समय ये कहता देखो मुझे ये करते ये करते ये करते मन पाठ करता है नहीं ईश्वर को याद करता वो ये कहते देखो मुझे काम सौंप दिया और ये करते हैं वो करते ये छेड़ता है ये सारे खराब लेते वो ऐसे सोचता अब वो ये नहीं समझता कि मैं ये जो विचारधारा अपने अंदर विचार कर रहा हूं मेरा अपना जीवन नीचे गिर रहा है ये वो ये नहीं मानता दूसरी शैली दूसरा व्यक्ति कैसे सोचता है देखो मैंने धमका के मुझे नहीं बोलना चाहिए था प्रेम से बोलना ये ठीक बात अच्छी बात और ये कठिनाई आती है ये तो आएंगी सारे व्यक्ति मेरी इच्छा के अनुसार काम कर नहीं कर सकते मैं चाहूं ऐसा ही करें और मैं चाहूंगा ये ऐसा करें वैसा करेंगे नहीं तो मुझे दुख होगा क्षोभ होगा द्वेष के संस्कार बन जाएंगे इसलिए अंदर अंदर क्षोभ उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए उसको रोक देना पड़ता है आप कार्यों को करते हुए जो कुछ स्वाध्याय करना था थोड़ा बहुत मंत्र का पाठ अपनी पुस्तकों का उसको छोड़ दिया आप कहेंगे मुझे अवकाश ही नहीं मिलता इतने कार्य मैं करता हूं वहां संतुलन बिगड़ गया उसने स्वाध्याय ही छोड़ दिया और कार्यों में लगा रहा जब रुक गया तो विश्राम करने लग गया देर तक विश्राम ही करता रहा स्वाध्याय करना छोड़ दिया उसको ये पता नहीं मैं स्वाध्याय करना छोड़ूंगा तो मेरा धर्म कर्तव्य छूट जाएगा मेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे पढ़ाई में विद्या में रुचि नहीं रहेगी स्वाध्याय छोड़ना दोष है ऐसा नहीं सोचना आप कुछ कार्य भी करेंगे और कुछ स्वाध्याय भी कर लेंगे उसमें एक परिणाम और निकलेगा आपका संबंध ईश्वर से टूट जाएगा व्यवहार में कार्य करने कराने में जब लग जाएंगे आप तो ईश्वर से आपका संबंध टूट जाएगा ईश्वर का आपका संबंध कुछ नहीं रहेगा ये संतुलन बिगड़ गया आप कुछ अनुभव करते हैं या नहीं करते व्यक्ति का संबंध ईश्वर से टूटता कैसे है और टूटने पर क्या स्थिति होती है उसका अपना स्तर क्या होता है वो क्या सोचता है जब अकेला होता है तो ये सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा क्या समझ में आया दोहराओ जब अकेला होता है तो क्या सोचता है वो मुझे कोई नहीं देख रहा या नहीं होता है ये दिमाग बनता नहीं बनता आप देखो अध्ययन करो ये बनता है मुझे कोई नहीं देख रहा अच्छा जब ईश्वर से संबंध होता है तो वो ये नहीं मानता मुझे कोई नहीं देख रहा वो ये कहता व्यक्ति नहीं देख रहा ईश्वर मुझे देख रहा वो ऐसा सोचता है ईश्वर से संबंध अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से रखना एक स्थिति और ईश्वर से संबंध प्रत्यक्ष प्रमाण से रखना यह दूसरी स्थिति है तो आप में से कौन सा संबंध रहता आपका ईश्वर के साथ फिर से सुनाऊ अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से ईश्वर से संबंध रखना एक स्थिति है और प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर से संबंध रखना ये दूसरी स्थिति है और ईश्वर से संबंध ही न रखना ये तीसरी स्थिति है अपनी अपनी बताओ कौन सी भी रहते हो आप हाँ जी विद्यासागर जी विद्यासागर नाम है ना आपका यही था पहले का कुछ परिवर्तन हुआ हाँ बोलो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण है हम्म। कुछ संबंध जुड़ा रहता है या टूट जाता है दिन में टूटता है कई बार फिर क्या करते हो टूटते समय आपको पता चलता है समय टूट गया है या नहीं पता पता चल जाता है फिर क्या करते हो फिर जोड़ लेते हैं याद करते आप बोलो जब टूट जाता है तो पता चल जाता है कि टूट गया फिर क्या करते हो आप हम्म, हम्म। अच्छा ये नहीं सोचते मेरा समझ टूट गया था ईश्वर नाराज होगा अब ऐसा नहीं सोचते आप बोलो जी सवान जी टूट जाता है टूट जाता है तो फिर जब संबंध टूटा था दोबारा जोड़ने चले तो ये नहीं मानते ईश्वर अब नाराज होगा मेरे प्रति जो है ये कहेगा ये बड़ा खराब व्यक्ति है ईश्वर याद ही नहीं आता टूटने पर <laughs> हाँ जी जरूर जी टूट जाता टूट जाता तो फिर क्या करते हो बनाने का प्रयास नहीं करते बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया जन्म टूटा रहा इतनी भयंकर भूल करते हो आप लोग आप ये नहीं मानते वो संबंध हमने तोड़ा और इतना समय टूटा तो कितनी हानि होगी हमारी ये नहीं जानते क्या देखिए जब आप उसे लाभ समझेंगे तो टूटने नहीं देंगे और टूट जाने पर जो हानि होगी वो आपके दिमाग में रहेगी तो फिर आप जोड़ेंगे जब लाभ आपके दिमाग में ईश्वर से संबद्ध रहने से जो उपलब्धियां होंगी ज्ञान मिलेगा आनंद मिलेगा धर्म अधर्म का पता चलेगा सब उपलब्धियां होंगी तब आप पहले तो तोड़ेंगे नहीं टूट जाए तो तत्काल फिर संबद्ध हो जाएंगे और जो हानियां होंगी उनको देखेंगे आप ईश्वर से संबंध तोड़ने से जो हानियां होती है उनको देखता है जो व्यक्ति वो कहता मेरा संबंध टूट गया तो इतनी इतनी हानियां होंगी उस झट संबंध जोड़ता ईश्वर से जैसे संबंध टूटते ही व्यक्ति को अज्ञान घेर लेता है अधर्म घेर लेता है उल्टी उपासना आरंभ हो जाती है और व्यक्ति की प्रवृत्ति अधर्म में रुचि आकर्षण विषय भोग में प्रवृत्ति ये सारे दोष राग द्वेष उसको पीछने लग जाते हैं ऐसी स्थिति बनती है ईश्वर को छोड़ते ही फिर ईश्वर को पकड़ते ही अज्ञान हट जाएगा विद्या आएगी अधर्म हटेगा धर्म की प्रवृत्ति होगी मन इंद्रिय पर अधिकार होगा विषय रुचि नहीं रहेगी मन को जीतने में सरलता हो जाएगी ये उपलब्धियां ईश्वर से संबंध संबंध रखने पर होती है यदि इनका आप अनुभव नहीं करते जो सुनाया जा रहा है तो आप ईश्वर से संबद्ध नहीं हो सकते